अष्टादश अध्याय ष्ठ श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था प्रसंग छिड़ा था संन्यास से महाबाहो तत्व में शाम अर्जुन का प्रश्न था हे प्रभो मैं संन्यास के बारे में जान स्वरूप का जानना चाहता हूं संन्यास का अर्थ क्या होता है और दूसरी बात त्याग से कैसा पृथक कैसे तो त्याग का अर्थ क्या होता है संन्यास और त्याग ये दो में क्या फर्क है संन्यास शब्द और त्याग शब्द का एक ही है वाच्यार्थ एक है अथवा भिन्न भिन्न है भिन्न क्या अर्थ है इसका मैं दोनों को जानना चाहता हूं कई शास्त्रों में कई संन्यास शब्द आता है कहीं त्याग शब्द आता है तो ये प्रश्न है ऐसे प्रश्न करने पर भगवान उत्तर देते हैं देखो काम्य कर्म का जो त्याग है उसको संन्यास कहा गया काम्यानम कर्म न्यासम संन्यासम को उत्तर है जो काम्य कर्म है नित्य नैमित्य कर्म छोड़ करके स्वर्ग आदि के लिए जो कर्म किया जाता है उनका त्याग करना काम में कर्म नहीं करना इसको संन्यास कहते हैं विद्वान लोग ऐसा मानते हैं हाँ। और सर्वकर्म पर त्याग फल त्याग उसको त्याग कहते हैं सत्याग सत वो त्याग कहा जाएगा प्रकृति का कहा वो त्याग कहा जाता है सर्व कर्म का फल का त्याग करना काम्य कर्म पे भी फल त्याग तो काम्य तो नहीं रहेगा उसमें भी काम्य तो था फल के कारण से कामना नहीं हुआ वो निष्काम हो जाएगा वो भी सर्वकर्म फल त्याग सत्याग को त्याग कहा हुआ है उसको त्याग कहते प्रचक्षते त्याग कहते हैं यही फर्क है फर्क है काम तो त्याग करना काम्य कर्म का और नित्य नैमित्तिक कर्म कर्म करना फल को त्यागना नित्य नैमित्तिक कर्म छोड़ना नहीं है ये करते रहना चाहिए फल का इष्टा न करें इसको कहा हुआ त्याग न करें दोनों का अर्थ एक ही होता है संपर्क जिनाश शब्द होता है त्याग अर्थ में होता है जो सन्यासी कहते हैं ना ये त्यागी है यही अर्थ निकलता है शब्द से अब वास्तव में सन्यासी है कि नहीं वो अलग विषय है शब्द से भी अर्थ आता है ये समझ आ जाता है फिर कहा था तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं कर्म मात्र को त्याग देना चाहिए चाहे काम्य कर्म हो नित्य निमित्त कोई भी कर्म हो दोष वाले होते हैं सारे कर्म दोष वाले सभी कर्म को त्याग देना चाहिए इस सांख्य लोग मानते हैं कर्म मात्र त्याग देना चाहिए केवल प्रकृति और पुरुष विवेचन में रहना चाहिए उसी से कल्याण होना है त्याज्यम दोष बदित्य के कर्म प्राहु मनीषण ये कहा कुछ लोग मानते हैं यज्ञोदान तपस्या तो न त्याज्य मुझे जा पड़े कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तीन को तो त्याग में कौन मीमांसक लोग बोलते हैं वेदवादी है मीमांसक मानते हैं नहीं नहीं तीन को त्याग नहीं यज्ञ दान तप ये तीन को तो त्याग नहीं चाहिए यह करते रहना चाहिए यज्ञ करते रहना स्वर्ग आदि के लिए करते रहना है दान करते रहना है तप करते रहना है ऐसा मानते हैं तो परस्पर लोगों में ऐसे भिन्न भिन्न अर्थ माना हुआ है किसको त्यागना किसको नहीं त्यागना कोई कहते सारे त्याग देना चाहिए कर्म मात्र कोई कहते तीन को नहीं त्यागना चाहिए किसी ने कहा काम में कर्म का संन्यास त्याग है ना उसको संन्यास कहा जाता है और नित्य निमित्त का भी फल का त्याग कर देना उसको त्याग कहा जाता है तो चार मत हो रखा है इसलिए कहा भगवान ने निश्चय शृण में तत्र त्यागे भक्त सप्तमा उसमें निश्चय मेरे से सुनो अब तो निर्णायक निर्णायक व्यक्ति विशेष होना चाहिए भगवान है तो इनकी बातों को सब मानेंगे करके मेरी बात को मानेंगे समझ कर भगवान कहते हैं मेरा निश्चय सुनो कर्म के बारे में त्याग विषय सुनो त्यागो ही पुरुष व्याग्र त्रिपिदा संप्रत ये पुरुष में श्रेष्ठ पुरुष हो व्याग्र हो पुरुष सप्तम हो श्रेष्ठ हो त्याग तीन प्रकार का त्याग होता है तो त्याग शब्द तो पहले आया है उसको त्याग माने तीन प्रकार का ये कहा हुआ है कहते हैं तीन प्रकार का है यज्ञदान तप कर्म अत्यादि बुद्धि कार्य में तथा कहा ये तीन कर्म तो छोड़ना नहीं चाहिए किसी को भी हो यज्ञ दान तप माने कैसा निष्काम भाव से करना सकाम भाव से नहीं कर्म में आसक्ति भी न हो फल में आसक्ति भी न हो इस प्रकार से करना सभी के लिए हम सन्यासी यहां जो बैठे वो भी विद्वत सन्यासी यहां अभी नहीं है सब विविदुषु में है विविदुषु के लिए पंच पंचदेव उपासना शंकराचार्य ने कहा हुआ है गणपति सूर्य देवी शिव विष्णु जो वैदिक देवता है जहां रुचि हो आपकी एक ही के पांच आकार है परमात्मा तत्व एक है कोई भिन्न भिन्न कार्य लोग में कर रहे हैं इसलिए उनको भिन्न भिन्न नाम से किया जा रहा है बोला जा रहा है वस्तु तो एक ही होता है तो गणपति सूर्य देवी शिव विष्णु के पंचदेव उपासना सन्यासी के लिए भी कहा हुआ है शंकराचार्य ने ऐसा माना हुआ है तो यज्ञ यज्ञ के बारे में चतुर्थ अध्याय बहुत सारे यज्ञ की चर्चा हुई है केवल सुहा सुधा वही मात्र यज्ञ नहीं है प्राणायाम आदि को भी यज्ञ कहा हुआ है इंद्रिय मन आदि के निग्रह करना भी यज्ञ कहा हुआ है और सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हो जाना परमात्मा दृष्टि होना हर वस्तु में ब्रह्मा परम ब्रह्मा जी हम इत्यादि बोलते हैं भोजन के समय अर्थ ज्ञान नहीं हमें जिसके द्वारा अर्पण किया जाता है भोजन के समय किसके द्वारा अर्पण किया हाथ से और आहुति देते समय आज्ञा में शुरुआत से जिससे हम कर्म कर रहे हैं वो वस्तु को अर्पण कहा गया हर क्रिया में हम देख सकते हैं ब्रह्म दृष्टि कर सकते हैं ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी जो दिया जाता है जैसे आहुति अन्न डाला जाता है उसमें भी ब्रह्म दृष्टि होना तो देने वाला कौन है हाथ है वो ब्रह्म दृष्टि वाला अच्छा, चाहे यज्ञ में घटाओ ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविद ब्रह्मावन जहां हम हाथ का अन्न का डालते हैं कहा पेट में वहां भी ब्रह्म दृष्टि होना चाहिए मांसादी दृष्टि नहीं होनी चाहिए ब्रह्म ज्ञान ऐसा होता है ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविद ब्रह्मावन ब्रह्मण होता हवन करने वाला व्यक्ति कौन है जो हम हम मई मई बोलते हैं ना वो भी परमात्मा ब्रह्मदृष्टि वहां भी होना हवन करने वाले व्यक्ति में भी ब्रह्माग्न ब्रह्मणा होता ब्रह्म ऐसा चारों क्रिया में जो एक एक दृष्टि बन गई परम ब्रह्म ब्रह्माग्न ब्रह्मा होता चार है चार क्रिया दिखाई कोई भी कार्य में चार क्रिया होती है चाहे अग्नि में आहुति डाले हम चाहे आहुति डाल रहे हो कहीं भी कोई भी क्रिया होती है तो चार प्रकार की क्रिया में चारों क्रिया में ब्रह्मदृष्टि हो गई ब्रह्म ही तेन गंतव्य उसके आगे ब्रह्म होना ही है निश्चित है सर्वत्र ब्रह्म करके बैठा हुआ है तो ब्रह्म ही होगा और क्या होगा ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म के द्वारा समाहित चित्त वाला है कोई भी कर्म हो रहा उस कर्म में ब्रह्म दृष्टि है उसकी कर्म करने वाले भी ब्रह्म जिस साधन से कर्म किया जाता ब्रह्म जो कर्म हो रहा हो ब्रह्म जहां कर्म हो रहा हो ब्रह्म परमात्मा दृष्टि ऐसी आनी चाहिए तो उसका गंतव्य स्थान परमात्मा ही होगा अन्यत्र नहीं होगा तो ऐसे यज्ञ नाना प्रकार के यज्ञों की चर्चा चतुर्दशा में हुई है चतुर्थ अध्याय दान भी कई प्रकार के दान है यह नहीं कि हम जमीन दान करें अथवा धन दान करें संपत्ति दान करें हमारे पास नहीं है हम दान कर सकते फिर जो वस्तु हमारे पास है देने योग्य हो आपके पास जो भी गुण हो कोई कला हो दीजिए दान ये नहीं कि केवल गौदानी करे असमर्थ व्यक्ति कहां से करेगा जो सामर्थ्य आपका जो है यदि विद्या है दे दीजिए दूसरे को स्थिति जो आपके पास कला है ये स्वार्थ भाव से दीजिए उसको स्वार्थ भाव से नहीं स्थिति है सर्वेशा एवदान विद्यादान विशिष्यते ऐसा है सारे दानों में जितने भी दान होते हैं विद्या का दान सबसे बड़ा दान है क्यों आगे उसकी चक्षु बन जाना है जिसने जिसको दिया गया माने उस विषय में जानकारी मिल जाएगी उसको जानकारी देना है जो विषय आप जानते हैं किंतु आप किस तरफ चल रहे हैं अपने समाज की मर्यादा के आधार पर देना होगा जैसे आप अब इस साधक अवस्था में ब्रह्म विद्या में चले हैं तो आपको चाहिए इसी मार्ग संबंधी दान जो जानते हो देना चाहिए जो जो आप उपदेश समझते हो देना चाहिए उसको निस्वार्थ भाव से दान है तो दान सभी दे सकते हैं ऐसा नहीं जो वस्तु तो अपने पास है देने योग्य है दे सकते हैं अपने शक्ति के आधार पर तप सभी लोग तप कर सकते हैं इसमें कोई वो नहीं है सभी कर सकते मनुष्य चंद्रियाणाम का एकाग्रम परमम तप अपने मन को निगृहित करना इंद्रियों को निगृहित करना सभी के लिए कर्तव्य है तप है तप भी सभी कर सकते हैं ये नहीं कि हमारी बस की नहीं ऐसे थोड़ी है अभ्यास करते रहे हम केवल दूसरे को सिखाने लग जाते हैं अपना अभ्यास वंचित है तो यह है एक नाम तप कर्म अत्याज्यम कार्य तो भगवान ने कहा निश्चय मेरा निश्चय सुनो कहने के बाद कहा यज्ञ तान तप के निस्वार्थ भाव से निष्काम यज्ञ है निष्काम तप है निष्काम कर्म है ये तो न त्याज्यम त्याग करने योग्य नहीं है यह कार्य तद तो इसी के द्वारा आगे के लिए हमारे लिए गति होगी अंतकर्म शुद्धि के साधन में होगी अंतकर्म शुद्धि हो शुद्ध हो जाए तो विषय से वैराग्य होगा हमें विषय लोलुपता समाप्त होगी शुद्ध अंतकरण का पहचान यही है जो मन दो प्रकार का है मनो ही द्विविधम प्रोक्तम एक ही मन है प्रकार दो है उसके मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चार शुद्ध भेद एक शुद्ध मन एक अशुद्ध मन अवस्था भेद ऐसा हो जाता है उसका अशुद्धम काम संकल्प अशुद्ध मन क्या विषयों के चिंतन यदि करता हो तो मेरा मन अशुद्ध है समझो अशुद्धम काम काम मन काम में काम विषय विषय के चिंतन करता हो तो मन अशुद्ध है समझ रहा अशुद्धम काम विवर्जित शुद्ध मन का पहचान दिया मन विषयों से लोलुपता से रहित हो जाए ऐसा हो मन तो मेरा मन शुद्ध हो गया अपने आप परख लीजिए आप मन कैसा है तो ये बताया है यज्ञदान तप कर्म नत्याजन कार्य बताते यज्ञोदान तपस्या पापदान यज्ञ दान तप तीन जो है ना मनुष्यों को पवित्र करने वाले साधन है अत्यंत पवित्र करने वाले बताए ऐसा निष्काम यज्ञ निष्काम दान निष्काम तप तीन प्रकार ये भगवान ने अपने निश्चय बताया आगे के श्लोक में जिसमें हम अभी चल रहे हैं उसे बोलते हैं यथार्य कर्म जो यज्ञदान तब कहा ना भगवान इन ये जो कर्म बताए गए तीन कर्म एक दान तब ये भी संगम तत्वा फलाने से कर्म में आसक्ति भी न हो फल में आसक्ति भी न हो दोनों से रहित होकर करना चाहिए मेरा कर्म है मैं करूं ऐसी भावना न हो ईश्वर का कर्म है मैं ईश्वर के लिए कर्म करता हूं ईश्वर के दास बन करके परमात्मा के लिए कर्म करे जैसे सेना लड़ती है ना हार्जित सेना को नहीं मानी जाती क्यों वो समर्पित है राजा में ये राजा का काम है हारजित राजा की मानी जाती है किसी की मानी जाती इसके नहीं सेना की नहीं मानी जाती अमुक राजा हार गया बोलते अमुक सेना हारी नहीं बोलते ठीक है ईश्वर के लिए कर्म करना उसमें आसक्ति मेरा करके आसक्ति नहीं करना और फल में इसका फल भोगता मैं होगा ऐसा नहीं यह आसक्ति भी न करे एक जो तीन कर्म बताए गए एक तप निष्काम भाव से करना यही है एतानी अभी कर्माणी जो तीन कर्म बताया गया है सभी कर सकते हैं अपने अपने शक्ति के आधार पर तीनों कर्म कर सकते हैं यज्ञ कर सकते हैं तो चतुर्थ अध्याय भी देखा हो देख करके आ रहे कितने प्रकार के यज्ञ है यानी कि गौदान भूमिदान आदि को यज्ञ नहीं कहते हैं सुहासुधा करना यज्ञ नहीं ये भी यज्ञ है वो भी एक है ये भी है तो वो नहीं कर सकते हमारे पास क्षमता नहीं है तो ये तो कर सकते हैं इंद्रिय निग्रह आदि कर सकते हैं हम प्राणायाम के माध्यम से चल सकते वो भी यज्ञ बताया हुआ है खर्च कोई खर्च भी नहीं पर्च भी कोई देना भी नहीं जन्मजात मिले हुए हमारे पास ये साधन सभी साधन हमारे पास मौजूद है मन जन्म से है इंद्रिया जन्म से निग्रह करना हमारा कर्तव्य है और प्राणायाम आदि हम कर ही सकते हैं नहीं कर सकते क्या हर प्रकार कर सकते हैं आहार आदि का नियंत्रण कर इतना भी एक बताया हुआ है वहां कई प्रकार की इसकी चर्चा है ये कर सकते हैं तो एतानी अभी कर्म ये कर्म भी करते हैं तो अभिमान नहीं होना चाहिए मैं करने वाला हूं फल मेरे मिले ऐसे न हो कर्माशक्ति फलाशक्ति दोनों से रहित होकर के करे कर्तव्य यानी बनकर कर्तव्य है समझ के कर्म करता है जैसे सेना राजा के लिए मेरा कर्तव्य लड़ना करता है मरे जिए उसको परवाह नहीं राजा के लिए काम है ऐसा मानता है ठीक इस प्रकार से ईश्वरार्पण बुद्धि से करे कर्तव्या नहीं तुम्हें पार्थ निश्चितम तुम ये मेरा निश्चित मत यही है ये कर्म करे तीन कर्म यज्ञतान तप अपने शक्ति के आधार पर करे किंतु वो भी निष्काम भाव से करे ईश्वरार्पण बुद्धि से करे ये कर्म ईश्वर का है ये फल ईश्वर को है मेरा नहीं इस बात से करना चाहिए ये कहा हुआ था इसी के टीका से देखना है उपसंहार श्लोकाक्षराणी व्याकरण से कहा यह समाप्ति है जो संन्यास और त्याग आदि की जो चर्चा चली ना तो उसमें उपसंहार समाप्ति वाला श्लोक है ये यथानिवृत्त करवाए संतक तो अपलाने जाएंगे समाप्ति का श्लोक है प्रसंग पूरा करने जा रहे हैं जिसके बारे में चर्चा चल रही थी संन्यास और त्याग के विषय में कहा था तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं कुछ लोग और सभी कर्मों का फल त्याग को त्याग करते हैं इत्यादि कहा कुछ लोग बोलते नहीं नहीं सारे कर्म त्याग देना चाहिए या मतभेद चल रहा था कुछ कहते नहीं यज्ञदान तब तो नहीं त्यागना चाहिए मीमांस ने कहा किंतु तो भगवान ने यज्ञदान तब को स्वीकार तो किया किंतु क्या लगाया निष्काम भाव लगा दिया एतानी व कर्माणी संगत होता मीमांसकों ने कहा वो नहीं लगाया संगत तो फलाने से नहीं लगाया जब नित्य कर्म करना चाहिए यज्ञ करना चाहिए कहा इतना है काम में भी लेते हैं सकाम निष्काम जाओ वह निष्काम तो होता ही नहीं उनके अपराध सकाम ही होता है वह ईश्वर को मानते ही नहीं तो क्या निष्काम करेंगे तो तय है निष्काम ईश्वर पूर्ण बुद्धि से कर रहा हो ईश्वर को मानते ही नहीं हो वो तो कर्म ही सब कुछ एक मानने वाले हैं तो भगवान का नहीं निष्काम होकर करना चाहिए यही कहा हुआ है तो ये उपसंगार श्लोक है ये ष्ठा श्लोक इस विषय का समाप्ति का है उपसंगार श्लोकाक्षराणी उसे व्याख्या करते हैं कहा एतानी इत्यादि कहा एतानी अपितु कर्माणी ये जो तीन कर्म बताए गए हैं निष्कर्ष में भगवान ने कहा है तो यज्ञोदान तपस्या पापरान मनीषाम कहा हुआ है इन कर्मों को भी करना तो है संगम तक तो फला नहीं कर्मों में आसक्ति रहो फल में आसक्ति भी रहो इसके साथ करना चाहिए यथाने वो कर्म कर्माणी मानी यज्ञता तपांक्षी पापनानी उगता जिसको पूर्व श्लोक में पापनानी कहा था पापनानी मनीषाम कहा था पवित्र करने वाले कहा हुआ था यही तो कर्म तीन कर्म है संगम मने आशक्ति तेसु मने कर्मसु उन कर्मों में आसक्ति त्याग करके जो यज्ञतान तप कर्म कर रहा हो उसमें आसक्ति त्याग कर यही है संगम तत्व तेसु आसक्ति तत्व यही है उन कर्मों में आसक्ति त्याग कर फलाने जब फल ये आसक्ति तत्व वही लगाना फल में भी आसक्ति त्याग कर तेसाम त्यक्त आसक्ति को त्याग करके तीन कर्म में आसक्त त्याग कर तेसाम कर्मणाम त्यक्ता संयम त्यक्ता फल परित्यज्य त्यक्ता करते त्याग कर कर्तव्यानी इति अनुष्ठेयानी में मेरे लिए अनुष्ठेय है ये ये मान करके करे कर्तव्य समझ कर करे अनुष्ठेय इतना करके करे जैसे कोई व्यक्ति घर का काम करता हो वहां अभिमान होता क्या है मेरे इतने पैसे बन गए आज के तनखा कोई मानता है अभिमान रहित कोई कर्म हो सकता है मजदूर जो काम करता है अभिमान के साथ करता है मेरे इतने घंटे हो गए तो वही काम घर के मालिक भी करता है किंतु उसमें अभिमान नहीं है आसक्ति नहीं है मुझे इसके कोई पैसे मिलेंगे यही है कर अनुष्ठान यदि वे मम निश्चितम मतम वे भगवान का ये मेरा मत उत्तम मत है निश्चितम निश्चित मत है ठीक है अक्षरार्थ मुक्त शब्दावली का अर्थ हो गया यथान्वित कर्माणी सन्नम तत्व फलाने कर्तव्य कर्तव्य का अर्थ निश्चित मत मुक्तम एक शब्दावली का अर्थ हो गया श्लोक का अब तात्पर्य महाश्लोक का तात्पर्य बता दें क्या सारांश क्या निकला निश्चयम इत्यादि का निश्चय में श्रोण में तत्र चार अध्याय चौथे श्लोक में कहा था निश्चय शरीर में तत्र त्यागे भरत सप्तम त्यागो ये पुरुष व्याग्रत त्रिविधा संप्रित कहा हुआ था ये मतभेद आया पूर्वों में कुछ लोग कहते हैं काम्य कर्म को त्याग को संन्यास कहते हैं कुछ लोग कहते हैं सभी कर्म का त्याग को त्याग कहते हैं तो उस मेरा निश्चय सुनो कहा हुआ था भगवान ने तत्र प्रतिज्ञा है भगवान ने वहां प्रतिज्ञा की थी निश्चय सुनो कहा हुआ था और उसके प्रतिज्ञा में पुष्टि करके तुम कहा यज्ञदान तपस्या जो मनी मनीषण करके पावरत्व तो बताया पवित्र करने वाले है कर्म यज्ञदान तप भगवान ने कहा हेतु मुक्त मुक्ता हेतु बता दिया पावरत्व तो हेतु बना दिया पवित्र करने वाले हैं इसलिए करना चाहिए तीन कर्म और एतानी भी कर्माणी ष्ठ श्लोक के द्वारा क्या बोलते ये जो कर, कहा गया तीन कर्म है यज्ञदान तप कर्तव्यानी तद निश्चितम मतम उत्तम कर्तव्य है मेरा यह मत है भगवान कहते हैं हस्ताक्षर करते थे भगवान मेरा मत है मेरा सिद्धांत है ये इति निश्चितम मतम उत्तमम कहा ये मेरा उत्तम श्रेष्ठ मत है यह तो प्रतिज्ञा जो की थी पहले तीन प्रकार के कर्मों की चर्चा थी ये तीन हो गए त्रिविधा कहा था उपसंहार एवं उपसंहार के लिए श्लोक है जो प्रतिज्ञा की हुई समाप्ति के लिए श्लोक है न अपूर्वार्थम अपूर्वार्थ को पहले नहीं कहा वैसे वचन को समाप्ति के लिए नहीं यहाँ अपूर्वार्थम वचनम यथानी इत्यादि अपूर्ता अपूर्वार्थ वचन ये नहीं है पहले नहीं कहा अब ये भी कह रहे हो ऐसी बात नहीं है एतानी अभी प्रकृत सन्निकृष्टार्थ रहे एतानी एतत् शब्द दिया वहां यहां एतानी तो कर्मण एतानी बहुवचन है प्रथमा बहुवचन है न लिंग प्रयुक्त है तो यथानी अभी प्रकृत प्रकरण में जो समीप में है उसी को ग्रहण करेगा समीप में क्या चल रहा था तीन करोड़ में चर्चा थी हाँ यज्ञोता हूं तपस्या को में श्रीराम यही तो है ना उसके पास में ही थे सन्निकृष्टार्थ उपत्य सन्निकृष्टता सिद्ध हो जाती है यही कहा इसी को लिया जाता है यदानी के द्वारा किसको यज्ञदान था टीका हाँ। में कहते हैं प्रकृतार्थ प्रसंगारे गम का वहां प्रकृति जो चल रहा था कर्म की चर्चा उसके उपसंहार में दृष्टांत दिया गया एतानी कहा गमक यही हेतु यही है पूर्व में जो पावन तो कहा था तीन प्रकार के कर्म को ही है यहाँ एतानी के द्वारा उसी को लिया जाएगा अपि शब्द से अपि शब्द आया एतानी अपि तो कर्माणी अपि आने से कुछ लोग कहते हैं इसको भी करना चाहिए यज्ञतांत अन्य काम्य कर्म भी करना चाहिए अपी लगने से होता है आप भी आना कहेंगे तो दूसरे को भी लाना हो जाता है ये भी ऐसा है संस्कृत में आप भी तो हिंदी में भी आप भी आ जाना माने और भी लाओ यह आता है तो और भी कर्म करने चाहिए मैं अंश को लाई बोलते हैं किंतु ऐसा नहीं कहना चाहते हैं अपिशब्द से विवक्षितम अर्थम तसे सासंग से अपिशब्द का क्या आया आसक्ति को छोड़कर कर्माशक्ति फलाशक्ति को छोड़कर इनको भी करना वो दो छोड़ करके इनको इनको भी उन दो को छोड़कर करना यह अर्थ है ये तीन कर्म जो करने को कहा यज्ञदान तब तो इन कर्मों को भी फलाशक्ति कर्माशक्ति त्याग कर करना यह अर्थ होता है ही यही लगाना है अन्य भी करना तात्पर्य नहीं है ये कहा शासक से कहा आसक्ति के सहित को शासक बोलते हैं आसक्ति सहित फलार्थी न हो जो फल फल के आशा रखने वाला होगा कर्म में आसक्ति हो फल फल में आसक्ति हो उसके बंद है तो वह कर्म बंधन के कारण हो जाएंगे क्या हो जाएंगे यज्ञदान तप कर्म संसार के लिए हो जाएंगे फल में आसक्ति कर्म में आसक्ति करने पर बंध हेतव एतान अभी कर्माणी मोक्ष यही कर्म जो है ना उनके लिए तो बंधन के हेतु है जो फलाशक्ति कर्माशक्ति लेकर करता हो किंतु मुमुक्षों के लिए कैसे बनते हैं ये वो मुमुक्षों के लिए तो फला माना क्या बंधन के लिए होता है संसार के लिए होता है मुमुक्ष कर्तव्या ने मुमुक्ष को एक कर्म भी एक कर्म करना चाहिए वो भी दो को छोड़ करके फलाशक्ति कर्माशक्ति छोड़कर यह अर्थ है यह ताने तो को कर्तव्या इन कर्मों की करना चाहिए यह अर्थ होता है न तो अन्य मुमुक्षों को यही कर्म करना चाहिए अन्य नहीं क्योंकि फलाशक्ति और कर्माशक्ति को छोड़कर यही तीन कर्म करना चाहिए अन्य कर्म होने वाले कौन करो काम्य कर्म वो नहीं करना चाहिए यह अर्थ होता है इसका न तो अन्य कर्माणी अपेक्षा अपेक्षा हितानी अभिचते अन्य कर्मों की अपेक्षा करके अन्य भी कर्म करना करके अपेक्षा करके ये अपी शब्द नहीं लगाया इनको भी करना को फलाशक्ति और कर्माशक्ति त्याग करके इनको करते समय सावधानी से करना इसके लिए अपी है अन्य कर्म के समुच्चय करने के लिए नहीं है ये सिद्धांत ने कहा हुआ है टीका भी कहते हैं व्यावर्तम कीर्तन जो मुझे इसके द्वारा माने अपी शब्द के द्वारा व्यावृत्ति क्या होगी अन्य के काम्य कर्म को नहीं करना चाहिए इसको दिखाते हैं न तो इत्यादि कहा हुआ है यही है ना न तो अन्य कर्माणी अपेक्षा एतानी अभी उचित है अन्य कर्मों की अपेक्षा करके काम्य कर्म की अपेक्षा से एतानी अभी ऐसा नहीं कहा गया मैंने इनको भी करना चाहिए उनको भी ऐसा अर्थ नहीं है इनको भी करना कैसे फलाशति कर्माशय को त्याग करना ये कहना है ठीक है एतानी अभी इत्यादि वाक्यम न नित्य कर्म विषय विधि मतम बोले से मीमांसा कहते हैं वही मत है मीमांसा पूर्व मीमांसा कहते हैं ये जो तीन कर्म बताया हुआ है ना एक तप एतान अभी इत्यादि वाक्य इत्यादि वाक्य है यह न नित्य कर्म विषय नित्य कर्म विषय नहीं काम कर्म विषय करता है यह हम्म, मतम उपनिषद मत है मीमांसकों का मत है सिद्धांत है उसको रहते अन्य अन्य तो वर्णयंती अन्य लोग कहते हैं माने मीमांसों का ऐसा वर्णन करते हैं इसका यज्ञदान तप के बारे में काम्यानी कर्माणी नित्यभ्य अन्य या अन्य पद के द्वारा क्या लेना है काम्य कर्म से अतिरिक्त कर्म अन्य एतानी अभी अन्य कर्म तो करना ही चाहिए काम्य कर्म और साथ साथ में इनको भी करना चाहिए ऐसा कर इनको माने जो प्रकृत है ये तप मान अन्य को कर्तव्य है ही है स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए काम्य कर्म तो है तो साथ में इनको भी करना चाहिए जिनको नित्य कर्म भी करना चाहिए ऐसा उनका कहना है कर्तव्या ने किमुदर यज्ञदान तपसी से काम में कर्म भी करना ही है तो यज्ञदान तब तक तो क्यों नहीं करना वो भी करेगा इसलिए आप ही है इनको भी करे यह है हमारे अन्य को करते हुए इनको भी करे ये उनका कहना है ये कहा ठीक है कहते हैं न तो एकदम नित्य कर्म विषय किम विषय तरी ये नित्य कर्म विषय नहीं करता ये यथानी अभिकर्माणी इत्यादि नित्य कर्म विषय नहीं कर रहा है यथानी के द्वारा किम विषय तरी तब क्या विषय सिद्धांत पूछते फिर क्या है नित्य कर्म विषय नहीं करेगा तो क्या करेगा ये किसको विषय करेगा ऐसे शंका सिद्धांत की ओर से किया जाए तो उत्तर देते हैं वाक्यम अवतारी व्याकृति वाक्य ही है जो था एतानी अभिकर्माणी ये जो कहा हुआ है संगम तक तो आया हुआ है तो कहना चाहते हैं टीका में है एतानी एतान बुद्ध तो कर्माणी संगत फलानी इत्यादि कहा यही है मत दिया भाष्य में कहा हुआ है इसका एतान अभी यानी काम्यानि कर्माणी ये जो तो काम्य कर्म जितने भी है एतानी से उसको लेना है काम्य कर्माणी नित्य अन्यानी हाँ नित्य कर्म से अन्य है जो तो काम्य कर्म है एतानी अभी कर्तव्यानी उनको भी करना है तो इनको भी करना है अभी या भी का अर्थ अपि अपि का अर्थ भी इनको भी करना है उनको करते हुए आता है कर्तव्यानी जब काम्य कर्म भी कर्तव्य है यथानी के द्वारा काम्य कर्माणी तो क्या करना फिर नित्य कर्म तो करना ही होगा दोनों कर्म करना है यह अर्थात अभी के द्वारा ये उनको मीमांसा कहना है तद असत के द्वारा खंडन करते हैं आगे नित्यानाम अफलत्व प्रपत्य यद्योद्यम तद उत्तम दूसरे मीमांसा को नित्य कर्म का कोई फल नहीं माना हुआ है न करने से प्रत्यवाय माना हुआ है दंड पाप लगेगा करने से कोई फल नहीं है ऐसा मान्यता उनकी जैसे मिलिट्री वालों के जो परेड है परेड खेलने में कोई फल तो मिलता नहीं कोई उसको कुछ इनाम कौन देगा कुछ देता नहीं तो न करने पर नहीं आया परेड पर दंड होगा अच्छे जड़ जाएंगे उधर उस पुराने मकान में कुछ नुकसान जरूर हुआ है तो ये स्थिति है एक झड़के में क्या होना पता नहीं है फिर तो आमता छूटती नहीं है मैं मैं मैं हमारी मूर्खता यही है प्रभो हो नित्यानाम अफलत्व विपत्य यद्यम तद अयुक्तम मीमांसकों ने नित्य कर्म का फल नहीं माना है इसलिए उन्होंने उनका जो प्रश्न था उनको भी करना है नित्य कर्म शास्त्र में कहा इसे करना फल तो है ही नहीं किंतु फल वाला होता है काम्य कर्म उसको करना है साथ में इसको भी करना है फल नहीं है फिर भी शास्त्र में बोला है नित्य कर्म के बारे में करना है ऐसा कहते हैं नित्य कर्म गौण कर देते हैं क्या कर देते हैं फल नहीं है काम कर्म मुख्य है ऐसा मानते हैं तद अयुक्तम ये ठीक नहीं करके दूषित करते हैं सिद्धांत ये कहा तद अयुक्तम तद असत ये कहा है वो ठीक नहीं इनका कहना नित्य कर्म को भी करना चाहिए ठीक है काम कर्म तो करना ही है ये मानते हैं ठीक नहीं नित्यानों के कर्मा जो फलवत्तु से उपराजित नित्य कर्मों के भगवान ने यहां पर गीता में फलशाली बताया है तीन प्रकार के फल होते हैं बोला है अनिष्टम विष्टम मिश्रम च त्रिवेदम कर्म फलम भवत त्यागिना प्रत्यय न तो सन्यासी को क्वचित ऐसा आगे आएगा श्लोक तीन प्रकार के कर्म के फल हो तीन प्रकार के कर्म का फल होता है एक अनिष्ट फल एक इष्ट फल एक मिश्रित फल पाप पुण्य मिला हुआ फल तीन प्रकार के कर्म के फल होते हैं जो अत्यागी होगा जो कर्म का फल को त्यागना नहीं चाहता काम में कर्म करता है उसको क्या होगा मरने के बाद में फल होगा उसको जो अत्यागी होगा तो त्यागी होगा उसको नहीं होगा फल त्याग दिया जिसने ईश्वरार्पण बुद्धि से काम किया उसको मरने के बाद में फल भोगना नहीं पड़ेगा न तो सन्यासी राम को जित कहा है त्यागी का नहीं होगा ऐसा कहा है ऐसा होता है त्यागी जो होता है ना वो आगे जाकर के फल मिलता है उसको कैसा है अदाता पुरुष त्यागी जो कृपण व्यक्ति है ना दान नहीं करते वो त्यागी है धनम संत्यज क्षति मरते समय सारा धन यही छोड़ देते हैं जीवन में जो तो कमाई थी यही छोड़ देते हैं दातारम कृपणम मन जो दान देने वाले मैं उसको कृपण समझता हूं लोभी समझता हूं मृतोप्यर्थम न मजते मरने पर भी धन नहीं, नहीं छोड़ते ले जाते हैं पुण्य रूप में बदल करके ले जाते हैं वो धन को बदल देते हैं बदल के ले जाते हैं यहां के धन यहां छोड़ेंगे पुण्य रूप धन को लेकर चले जाते हैं कौन दाता लोग वो त्यागी नहीं है त्यागी ये है कौन अदाता पुरुष त्यागी वो, त्यागी है क्यों धनम संत्यज गति सारे धन यही छोड़ करके जाते हैं कुछ भी नहीं ले जाते एक सुई भी नहीं ले जाते किंतु दाता जो होते हैं बदल करके सारा धन ले जाते हैं बदलने की प्रक्रिया वो, जान, वो जानते हैं धन को बदलना यहां के जो कबाड़ है इसको बदलना जानते हो दातारम कृपणम मन मृतोत्पथम नमचती मरने पर भी विषय को नहीं छोड़ते मैंने व्यंग में कहा गया किसमें साहित्य की भाषा है स्थिति ऐसी है ये व्यंग है दान करना चाहिए इसको तात्पर्य है तात्पर्य उधर होता है तो कहा नित्यानाम कर्माम फलम यह फलवत्व से उपाधित होगा नित्य कर्म का भी इस गीता में यह मैंने अस्मित गीता यहां इस अश्याम पितायाम फलवत्त सुख फलशाली माना हुआ है यहाँ भगवान ने अनिष्टम इष्टम निष्टम से त्रिगुणम ये पहले कहा ये कहा और यज्ञोदानम तपस्या पावना श्याम ये भी कहा है इत्यादि तो इत्यादि पवित्र करने वाले हैं कहा फल क्यों नहीं पवित्र कर रहा तो फल नहीं क्या नित्य कर्म का फल नहीं है, पवित्र कर रहा है इत्यादि वचन नित्यान नित्यानि अपनी कर्माणी बंद हेतुत्व आशंका तो पावड़ा कहा था नित्य कर्म भी बंधन का कारण होगा इस शंका आने पर कहते हैं जिहास और मुक्ष नित्य कर्म को छोड़ना चाहता है कोई मुक्ष ये भी तो बंधन के कारण है पवित्र करने वाले हैं ऐसा समझ के कोई छोड़ना चाहता हो मुमुक्ष तो उस स्थिति में कुत काम से प्रसंग जो मुख नित्य कर्म को करना नहीं चाह रहा है ये भी बंधन के कारण समझ रहा है तो काम्य कर्म प्रसंग कहाँ होगा उसमें मुमुक्ष के लिए वो तो विमुक्षों के लिए काम्य कर्म मुमुक्षों के लिए नहीं ये कहा हुआ है टीका में बोलते हैं यत्तु काम्यानि अभी कर्तव्यानि कहा काम्य कर्म भी करना चाहिए और नित्य भी करना चाहिए कहा मीमांसकों ने कर्तव्य भी तन निरसित उसका खंडन कर देना नहीं काम्य कर्म नहीं करना चाहिए नित्य में भी त्यागने की इच्छा में है जो मोक्ष ये भी बंधन के कारण समझ रहा है पवित्र करने वाले का समझ रहा है मैं उस बंधन से मुक्त हुआ व्यक्ति ऐसा मान रहा है तो काम की प्रसक्ति कहां हुआ किंच काम्यान भगवता निंदा तत्व काम्य कर्म को भगवान ने निंदा की है गीता में न तेसु मुमुक्षोर अनुष्ठानों इत्यादि द्वितीय अध्याय में निंदा करके आए भगवान काम्य कर्मों की दूरेण अवरम कर्म बुद्धियोग योगा धन जगा नित्य कर्म को बुद्धि योग बोल रहे हैं निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा सकाम कर्मयोग बहुत अंतराल से निकृष्ट है तुच्छ है ये ये बुभुक्षु लोग चाहते हैं इसको मुमुक्षु नहीं चाहते दूरे हेवरम कर्म हेवरम अनिष्ट है निकृष्ट है छोटा है तुच्छ फल वाला है बुद्धियों का धर्म जब बुद्ध शरण में न माने निष्काम कर्म के शरण में जाओ तुम कृपणा फल है तब फल के लिए जो कर्म करते हैं ये मिलेगा वो प्राप्त करूंगा ये से वो प्राप्त करूंगा कृपण कहा गया लोभी कहा गया दरिद्र कहा गया उसको ऐसे आदि में बोल के आए ये कहा दूरेण है परम कर्म इत्यादि कहा था यदि निंदित तत्व काम्य कर्म की निंदा की है भगवान ने मोक्ष को नहीं करना है किंतु मोक्ष अवस्था में यदि सिद्ध अवस्था में गया हो पहुंचा हो तब तो कर्म की आवश्यकता ही नहीं उसकी यदि साधक अवस्था में मुमुक्षु अवस्था में मुक्त होने की इच्छुक है तो साधन करनी पड़ेगी नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहना होगा निष्काम भाव से फल की आसक्ति भी नहीं कर्माशक्ति भी नहीं ये कहना है सभी के लिए कर्म है नहीं नित्य कर्म सभी आश्रम में होते हैं ये नहीं कि संन्यास आश्रम का नहीं है हाँ विद्वत संन्यास हो यदि ज्ञानोत्तर संन्यास हो उसकी बात छोड़ो उसके कोई कर्तव्य नहीं है केवल आप यदि विविधु सन्यासी है उस तत्व को जानना जानने की इच्छा करता है तो आश्रम संबंधी कर्म होगा उसको गृहस्थाश्रम संबंधी नहीं होगा तो संन्यास आश्रम संबंधी कर्म होगा ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी आश्रम संबंधी कर्म होगा उसको बारह वर्ष जो होंगे तद आश्रम घटित कर्म है सन्यासी किसका नहीं कर्म किंतु निष्काम भाव से करेगी ये कहना है किंच मुमुक्षोर अपेक्षित मोक्ष अपेक्षा मुमुक्षु क्या चाहता है उसकी अपेक्षा किस मोक्ष में है उसी अपेक्षा करके विरुद्ध फलत्वाद उस मोक्ष की फल मोक्ष रूपी फल से विरुद्ध फल है काम्य कर्म का फल स्वर्ग पुत्र आदि मिल रहा है विरुद्ध फल होने फल होने से काम्य कर्माण तस्य अनुष्ठान होगा काम्य कर्म में तेसु उन कर्मों में तस्य नाम स्थानम अनुष्ठान नहीं होगा उसका माने मुमुक्षु का अनुष्ठान नहीं होगा काम्य कर्म नहीं जाएगा दूरियण यज्ञार्थ इत्यादि कहा हुआ है इत्यादि दूरियण है वर्ग इत्यादि कहा न तेसो तो यज्ञार्थात इत्यादि यज्ञार्थात कर्मोत्र लोकयम कर तृतीय अध्याय बोल के आए यज्ञो भाई विष्णु कहा हुआ है भगवान के लिए जो कर्म होता है उसको छोड़कर अन्य में कर्म बंधन के कारण होते हैं कोई भी कर्म करे अपने आश्रम विहित कर्म करे दूसरे का आश्रम नहीं होता स्वधर्म धर्म श्रेय परधर्मो भयाव कौन सी आश्रम में बैठा है ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आश्रम है तो ब्रह्मचारी के लिए जो कर्म कहा वो करना संन्यास आश्रम है यदि ब्रह्मचारी वाला काम करता तो गलत हो गया उसका उसका संन्यास आश्रम भी ही कर्म करना होगा यज्ञार्थात कर्मो नेत्र लोक एवं कर्मंधन भगवान तृतीय अध्याय बोल के आए हैं यज्ञ हमारे यज्ञों में विष्णु कहा हुआ है भगवान के जो कर्म होता है उससे अतिरिक्त कर्म बंधन के कारण है इति काम्य कर्म हम बंधो हेतुत्व से निश्चित काम्य कर्म जो होता है ना तो यज्ञार्थ कर्म से भिन्न कर्म है यज्ञ माने यज्ञोपय विष्णु यज्ञ शब्द का विष्णु उसको लेकर ईश्वर के लिए तो कर्म उस कर्म से अतिरिक्त कर्म काम कर्म उसे निंदा की हुई है भगवान ने तृतीय अध्याय में ये कहा हुआ है अच्छा टीका में कहते हैं काम्यानाम बंध हेतुत्व निश्चितम काम्य कर्म बंधन के कारण निश्चय हुआ है गीता में निश्चितम यदि अत्रैव पूर्वोत्तर वाक्य अनुकूल यहीं पर अष्टादश अध्याय में देखते हैं पूर्व वाक्य यहाँ के वाक्य विरोध करता है अनुकूलता नहीं है हाँ। त्रैगुण एक गीता में अत्रैव बने गीता में त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रुण व्यवहार दोनों ने कहा हुआ है निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निरुग क्षमा द्वितीय अध्याय बोल के आए तीनों वेद जो होते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद जो कर्मकांड पर भाग हैं वो बंधन के कारण है केवल त्रैगुण तीनों गुणों के कार्य को ही बताते हैं स्वर्ग आदि को बताते हैं तीनों गुणों कार्य है वो सतगुण का कार्य रजगुण का कार्य तम गुण का कार्य को विषय करने वाले हैं वे उनके साधन होते हैं वे त्रैगुण विषय जिस त्रैगुण तुम तो तीनों गुणों तीनों गुणों से अतिरिक्त हो जाओ सतगुण रजगुण तमगुण से अतिरिक्त हो जाओ भेद के चक्कर में पड़ोगे यही करेंगे तीनों गुणों के विषय बताएं कर्मकांड पर वेद ऐसे हैं ठीक है काम कर्मणा बंधुते इति और नवम अध्याय में आकर के बोले त्रय विद्या माम सोम पापूत पापा तीनों वेदों के द्वारा तीन तीनों वेद हैं ऋग दिशाओं के द्वारा मेरे को पूजा करके माम सोम पापूत पापा माने सोम रस पी गया मैंने पवित्र हो गए जो पाप नाश किया जो उन्होंने यज्ञ रिष्ट यज्ञ द्वारा नाम पूजा मेरी पूजा करके यज्ञ मेरी यज्ञ करके मेरे लिए यज्ञ करके तीनों वेदों के माध्यम से मेरे यज्ञ करके कर्मकांड करके यज्ञ स्वर्ग प्राण अंत में क्या फल चाहते हैं स्वर्ग फल गति माने फल स्वर्ग फल चाहते हैं वो ते पुण्य मास आदि सुरेंद्र लोग दिव्यांग पुण्य के प्रताप कर्म क्या धर्म हुआ है इसके कारण से जो इंद्र का लोक है सुरेंद्र लोक देवताओं को राजा का लोक है वहां पर पहुंच जाते हैं ते पुण्यमा अशांति अश्वंती दिव्यांति जो दिव्य भोग है देवादि का भोग अमृतपान आदि वो करते हैं पुष्टित करते हैं तेतम भूतम स्वर्गलोक विशालम वो विशाल विस्तृत स्वर्गलोक है ऐसे स्वर्गलोक को भोग करके क्षण पुण्य के साथ विशाती फिर नीचे आएंगे एवं त्रय धर्म मनोप्रवन तीनों वेद के चक्कर में जो पड़े हैं धर्मकांड पर वेद के चक्कर में पड़े हैं अमुम एजा अमुम एजा अमुम एजा इत्यादि वाक्य में पड़ गए जो हाँ। एवं त्रयी धर्म तीनों वेदों के धर्म का अनुप्रपन्ना प्राप्त हुए लोग गतागतम काम का अमल बने आना जाना चलता रहेगा उनका तो विषय को प्राप्त करेंगे मेरे को प्राप्त नहीं करेंगे भगवान ये कहा हुआ है ये कहा किंच कहते हैं आगे किंच पूर्व श्लोक के यज्ञादि नित्य कर्मणाम पूर्व श्लोक में कहा यज्ञादि नित्य कर्म करना चाहिए कहा हुआ है दान तपस्या पावनान मनुष्याम कहा हुआ है उसके बाद एतानी तो कर्माणी ये श्लोक चल रहा है अभी पूर्व श्लोक में यज्ञादि नित्य कर्मणाम प्रकृतत्व यज्ञादि नित्य कर्म की प्रकृत है यहां इस दसवें श्लोक में पंच छठा श्लोक में एतत् शब्द एतानी में आया हो जब एतत् शब्द एतानी तो कर्म एतत् शब्द है प्रथमा प्रवचन है वो तो ये कर्म भी करना चाहिए प्रकृतत्व एतानी नित्य कर्मण प्रयुक्त ये शब्द में सन्निहित वाचिना ये शब्द नजदीक का परामर्श करता है तत्शब्द दूर का परामर्श करता है सर्वनाम होते हैं दोनों ये तत् मैंने अभी भी कहा पूर्व क्या कहा एक उदाहरण तपस्या तो को पावन मनुष्य ये कहा हुआ था परामर्श और वही तीन आ जाएंगे यहां परामर्श संबंध उसी को करेगा यतानी की शब्द जो है ये शब्द काम्य कर्मणाम और काम्य कर्म की चर्चा तो पहले हो चुकी कहा काम्यानम कर्माम इत्यादि कहा था काम्याराम कर्माम्यासम संन्यासम को भी तो पहले हुआ है अभी एतानी शब्द आया काम्य कर्म को नहीं लगे बहुत दूर में है वो अभी नजदीक में कौन है यज्ञता ठीक पूर्व श्लोक में है इसी को परामर्श करेगा ये कर्म भी कर रहा है आसक्ति को छोड़कर कर्माशक्ति भी न हो फलाशक्ति भी हो ये कहा हुआ है यदि व्यवहिता नाम वो व्यवधान युक्त वाक्य हो गया एतानी उसको नहीं पकड़ पाएगा तत्शब्द होता तो उसको पकड़ लेता क्योंकि यह ये तत्शब्द है एतानी सर्वाम नजदीक का परामर्श होता है ये वस्तु सन्निकृष्ट है तरवर्ती चाहिए दो रूपम अधस्तु विप्रकृष्ट है तदित परोक्ष वैयाकरण लोग ऐसा मानते हैं इदम शब्द नजदीक का वाचक होता है यह ऐसा बोला जाता है और समीप से भी समीप वो समीप है उससे भी समीप दो तुलना करते समय में यह शब्द का और नजदीक में नजदीक से भी नजदीक को यह शब्द से कहा जाता है इदम वस्तु सन्निकृष्ट नजदीक को वाचक होता है इदम शब्द यह बोलते हैं उससे भी जो नजदीक होगा दो होंगे साथ में तो समीपतर जो होगा उसको एतत् शब्द का प्रयोग होता है या एतानी कहा हुआ है समीप अत्यंत समीप को लिया जा रहा है एक एदान तब को लेता है अर्धशास्त्र पेपर के समय वहां प्रयोग बोलते हैं असौ बोलते हैं वह दूर के लिए प्रयोग होता है तदिति परोक्ष भी जानिया तो परोक्ष जो होगा दूर भी दो तरह का होता है ये तो हमारी चक्षु आदि की गति है जहां पहुंची है उसको अदस शब्द के द्वारा प्रयोग होगा और तत्शब्द इंद्रिय का विषय नहीं है उसमें उसको वहां बोला जाएगा तत्शब्द कहा जाता है ऐसा व्याकरण में तुलना कर देंगे नजदीक के दो शब्द है नजदीक के वाचक सर्व दूर के वाचक भी दो हैं तो उसकी तुलना करके संभिप संवितर दूर और दूर तक इसको लेकर के असौ अदस शब्द तत्शब्द पर दूर के लिए अदस और दूराति दूर के लिए तत् और समीप के लिए इदम और समीप से समीप के लिए यत इन शब्दों का प्रयोग होता है या यत शब्द है यथान यवत कर्माणी में यतत शब्द पड़ा हुआ है नति का वाचक होगा तो समीप में यही है यद्यपि सारी गीता में देखते हैं तो काम्यानम कर्मान समीप है यहाँ क्योंकि तो, तो समीप से समीप है कौन है ये, ये जो पूर्व में एक दानम तपस्या तो पावन अन्वेषण कहा तो ये शब्द पर हुआ यहां समीपतर है यहां इसलिए यही लिया जाएगा कहना है तो एक आख्यंत पूर्व श्लोक है पूर्व श्लोक यज्ञोदान तपस्या पावन निस्तम मत देगा था तो किंच किंच पूर्व श्लोक पूर्व श्लोक में पंचम श्लोक था उसमें यज्ञादि नित्य कर्म यज्ञादि जो नित्य कर्म कहा नित्य यज्ञ नित्य दान नित्य तप जो कहा हुआ है प्रकृतत्व हाँ, प्रकृत प्रकरण इसी का है भी समीप में होने से यथत शब्द है तो सनित वाचिना यथत शब्द समीप वाचक का शब्द है तो आदि उन्हीं को परामर्श संबंध करेगा कौन यथत शब्द यथानी में आयो शब्द पूर्व में आयु पूर्व श्लोक ठीक आया हुआ जो तीन है उसी लेता है कहा काम्य कर्म नाम काम्य कर्म दूर हो गए थोड़ा इससे अपेक्षा दूर है काम्यानम कर्माने असम संध्या दूर हो गया द्वितीय श्लोक का था काम्यानम कर्म यदि व्यवहिता नाम व्यवहित है व्यवधान युक्त है वो बीच में कई श्लोक आ गए बीच में संयुक्त परामर्श का एतत् शब्द अभिषय शब्द अभिषय प्राप्त करते हैं समीप का परामर्श संबंध करने वाले एतत् शब्द का विषय नहीं बन रहा कौन काम्य कर्मा दूर में पड़ गया न काम्य कर्माणी एतानी अभी व्यपदेश अर्हंति का यहाँ काम्य कर्म जो है ना एतानी पद के द्वारा उपदेश के योग्य नहीं होते क्यों दूर पड़ गए वो यहाँ यथा शब्द संधि को वाचक का है तो ये लेना पड़ेगा ये कह रहे हैं ये कहा हुआ था दूर इत्यादि शब्द से कहा था दूरे रह वर्ग वर्ग इत्यादि कहा हुआ है दूर विभेद कहा था भाषण में था न कामेशु एतानी विभेद काम्य कर्मों में एतानी पद के द्वारा उपदेश नहीं होता यहां तो योदान तपस्या हुआ पापनान मनुष्य इसको टीका है ठीक है नृत्य कर्मणाम अवश्य कर्तव्य कर्तव्यत्व उत्तम उपजीव्य अपेक्षित अपेक्षितम पूरे अनंत्र सुलभ अवतारित कर रहे हैं नित्य कर्म अवश्य कर्तव्य है सिद्ध किया पहले यज्ञदान तप जो नित्य कर्म है हाँ, ये अवश्य कर्तव्य सभी के लिए कर्तव्य है यहां तक विविधेश्वर सन्यासी के लिए भी कर्तव्य है नित्य कर्म किंतु उनका नित्य कर्म अलग प्रकार का होगा शुरुआत आदि लेकर नहीं चलेगा भिन्न प्रकार के हैं नित्य कर्म सभी के होते हैं सबके हैं हाँ, जो विद्वत सन्यासी होगा उसकी बात अलग है ज्ञानोत्तर सन्यास पहले ज्ञान हो गया उसके पश्चात सन्यास जो ज्ञान के लिए सन्यास कर, कर्म छोड़ रहे हैं उनके लिए नित्य कर्म है विदुष सन्यासी के लिए भी है तो आने की बात क्या करें ब्रह्मचारी को भी है ब्रह्मचारी का मुख्य कर्म होता है वेद पढ़ना जानकारी लेना वो आश्रम जानकारी के लिए शिक्षा वो जानकारी लेकर के आगे समाज में जाना है कि काम करना है कर्तव्य को करना है जाने के नहीं क्या कर्तव्य गृहस्थ आश्रम में जाकर के कर्तव्य करना है उसने हाँ, यज्ञादि कर्म करना है वहां यहां जानकारी लेगा ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण होना मुख्य रूप से वेद वेद हमारा मुख्य है उसके आधार पर चलने वाली स्मृतियां हैं जो भी हैं उनको पठन पाठन करना वहां से जानकारी मिलेगी तब आगे आप रास्ता मिलेगा आपको चलने के लिए जानकारी के बिना चल नहीं पाएंगे आप उसके बाद गिरफ्तार में आश्रम यज्ञ आदि कर्म प्रसिद्ध ही है वहां सीख के आया था ब्रह्मचारी आश्रम में आगे करेगा उस बाद बानप्रस्थ आश्रम से इंद्रियों को तपाना सुखाना आगे अंतर्मुखी वृत्ति में ले जाने के लिए तपस्या करना जंगल में रहना फलादि जो मिले सेवन करना इत्यादि इंद्रियों को शांत करने के लिए उसके आगे संन्यास शास्त्र में जाने बाद उनका मुख्य कर्म होता है शांत हो दांत हो प्रतुषमायित हो आत्मा आत्मान प्रसिद्ध माने शांत हो जाना हर प्रकार से निवृत्त हो जाना निवृत्त मार्ग होता है तो चारों आश्रमों का अपना कर्म है उन कर्मों को नित्य रूप कर्म करना चाहिए ये कहना है नित्य कर्मा अवश्य कर्तव्य तुम उत्तम उपजीव उसके आश्रय लेकर के नित्य कर्म अवश्य कर्तव्य है जो कहा है पूर्व में इसी को आश्रय करके अपेक्षितम पूरा जो अपेक्षित होगा इसके लिए पूरा करने के लिए पूरा करते हुए अनंतर श्लोकम होता आगे का श्लोक सप्तम श्लोक का उत्तर देते हैं हुआ है तस्मात अज्ञस्य अधिकृत से मोक्ष हो जो अज्ञानी है अधिकारी है मुमुक्षु मुमुक्षु है अज्ञानी दो प्रकार के एक बुभुक्षु अधिकार अज्ञानी है मुमुक्षु अज्ञानी जो मुमुक्षु अज्ञानी होगा उसके लिए आगे कर्तव्य बताते हैं तस्मात इसी कारण से ये तीन कर्म पवित्र करने वाले हैं इनको भी फलाशक्ति कर्माशक्ति को छोड़ करके करना होगा मोक्ष तस्मात यही हेतु है कर्तव्य है इसलिए अज्ञस्य जो अज्ञानी है अधिकृत मुमुक्षु अधिकारी है कर्म करने का अधिकारी है मुमुक्षु है उसको कौन सा कर्म करना चाहिए यही है कहते हैं उसको जो मुमुक्षु होगा उसको नित्य कर्म को परित्याग करना कामस त्याग माना जाएगा मुमुक्षु को जो नित्य कर्म त्यागता हो वो तो त्याग सही नहीं गलत है तामस त्याग नहीं करना चाहते हैं नियत सुत संन्यास कर्मणो नोपद्यते ऊहात परित्याग तामस परिकीर्त नियत तु संन्यास कर्मणो नोपद्यते मोहात परित्यागस्तामस परिकीर्ति नियत तो नित्य तो नियत बोलो नित्य बोलो एक ही चीज है जो नित्य कर्म है नियत तो मैंने नित्य से तो तू माने किंतु जो नित्य कर्म है मुमुक्षु है उसके लिए जो नित्य कर्म लगा हुआ है संन्यास नित्य नियत कर्मणो संन्यास जो नित्य कर्म का जो संन्यास है न उपपद्य वो ठीक होता नहीं त्यागना ठीक नहीं है त्याग नहीं करना यदि मुमुक्षु है तो नित्य कर्म को त्याग नहीं करना चाहिए नित्य और नैमित्तिक दोनों कर्म का त्याग न करे यही अर्थ है त्याग करने से हानि होगी मोहात से परित्याग अभिवेक के कारण छोड़ देता हो मोह से मोहात अविवेकात तस्य त्याग उसका त्याग परित्याग नित्य कर्म का त्याग परित्याग कर देता हो जो तामस परिकृत शास्त्रकारों ने तो तामस त्याग कहा गया है तामस तो त्याग है जन्य त्याग है नित्य कर्म का त्याग ठीक नहीं यदि अज्ञान से त्याग देता हो कोई तो तामस त्याग कहा गया है ये कहा है भाष्य में कहते हैं नियत सुतु माने नित्य से ये नित्य नियत माने नित्य एक ही है यहां छंदो भंग हो रहा था इसलिए नियत बना एक अक्षर कम पड़ रहा था भाई नित्य है नियत से तो माने किंतु जो नियत कर्म है नित्य कर्म है उसका तो संन्यास जो संन्यास है त्याग है परित्याग संन्यास में परित्याग नित्य कर्म का परित्याग कर्म है तो इसका नित्य कर्म का परित्याग नोपद्य थे ठीक नहीं होता नित्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए अज्ञस्य अज्ञानी है मुमुक्षु अज्ञानी कैसे अज्ञानी मुमुक्षु है अज्ञस्य पावनत्व से इष्टत्वाद योदान तपस्या पावनानि मनीषराम पहले भगवान बोल के आए पावनत्व तो कहा पवित्र करने वाले कहा अंतकर्म को शुद्ध करने वाले यही होते नित्य कर्म होते हैं जिससे विषय लोलता समाप्त हो जाए इसी के माध्यम से होगा पावन से इष्टत्व पावन है पवित्र करने वाले हैं ऐसा इष्ट है कथन करना इष्ट है यहां इसलिए इसका त्याग करना ठीक नहीं मुहाद अज्ञानात मोहद मन अज्ञान से यदि त्याग देता हो कोई नित्य कर्म अज्ञान के वश में आकर के त्याग देता हो तस्य नियत से परित्याग तस्य मान नित्य कर्म का जो परित्याग कर देता हो ज्ञान से तो क्या होगा तामस परिकृत है आगे उसको तामस कहा जाता है ये कहना है नियतम से अवश्यम कर्तव्यम ये नित्य कर्म अवश्य कर्तव्य होता है हर व्यक्ति को मुक्षुओं को त्यजते त्यजते त्यजते और कर्तव्य भी है त्यागता भी है ऐसा हो नित्य कर्म कर्तव्य समझता और त्याग भी देता हो त्यज त्यज विपरीत हितम ये विरोध होगा नित्य कर्म कर्तव्य है तो कर्तव्य है त्याग नहीं हो सकता तो नित्य कर्म करता भी है त्यागता भी है कारण तो विरुद्ध होगा दोनों तो हो नहीं सकेगा त्याग और ग्रहण दोनों कर नहीं सकता अतः मोहा मोह निमित्त परित्याग अज्ञान के पास होकर के त्याग देता हो नित्य कर्म का अपने हिस्से में आया हुआ नित्य कर्म होगा उसे त्यागता हो तो तामस परिकृत कहा ता, वो तामस त्याग करके परिता कृतित परिकृत चारों और कथन किया है कहा विद्वानों ने ऐसा कथन किया शास्त्रकारों ने कथन किया है मोह से मोह क्या है मोहतम अज्ञान अज्ञान के कारण त्यागता हो तो तामस त्याग कहा गया है ये कहना चाहते हैं ठीक है ननु कश्चित नियतम भी कर्म त्यजन उपलब्ध थे उपलब्ध थे करते कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं नित्य कर्म को त्याग देते हैं ऐसे देखा गया है ऐसे लोग पाए जाते हैं समाज में कश्चित कोई नियतम अभिकर्म त्यजन नित्य कर्म को त्यागता हुआ उपलब्ध ऐसे समाज में पाया जाता है उपलब्धि हो रही है ये शंका आ गई तत्र उसके उत्तर भी कहते हैं मोहात अश्य परित्याग तामस परिगता है यदि मोह के कारण अज्ञान के कारण त्यागता हो नित्य कर्म हो तामस त्याग कहा गया तमोगुण जल्य त्याग है ये कहना है अज्ञानम पावनत्व अपरिज्ञानम कहते हैं अज्ञान माने क्या पावनत्व ज्ञान नहीं है अज्ञान से त्याग नहीं ये पवित्र करने वाले हैं करके नहीं समझा पाया यज्ञोदान हो तपस्या हुआ पावन तो राम का हुआ है वो समझा नहीं वो उस बात को नहीं समझा इसलिए कर्म नहीं कर रहा है नित्य कर्म नहीं करता यदि पावन करने वाला पवित्र करने वाला मेरे अंतकरण को शुद्ध करने के साधन समझना जरूर करता नहीं समझा तो पावन तो राम कहा था उसको नहीं जानता उसके द्वारा त्याग देता हो तामस त्याग कहा जाता है यह आता है अज्ञा से नित्य कर्म त्यागो मोहाद इत्यत उपाधि अज्ञानी का जो नित्य कर्म का त्याग करना क्यों मोह से होता है पावनत्व का ज्ञान नहीं है क्या ज्ञान नहीं है ये पवित्र करने के साधन है ऐसे ज्ञान नहीं है ये इसको सिद्ध करते हैं नियतम से इत्यादि कहा नियतम से अवश्य कर्तव्य कर्तव्यम त्यज तेज नित्य कर्म अवश्य कर्तव्य है और त्याग त्याग भी होता है त्यागा जाता हो विपरीत हितम ये तो विरोध हो जाएगा ऐसा बोलना यदि अवश्य अवश्यकत्व त्यागना नहीं है त्यागना है तो अवश्य कर्तव्य नहीं है स्थिति आ जाएगी तो वो नहीं होता अज्ञान के कारण पावर तो पवित्र करने के साधन नहीं समझ रहा है इसलिए त्यागता है नित्य कर्म त्याग से वह कृतत्व है नित्य कर्म का त्याग अज्ञान कृत है पावरत्व का अज्ञान किसका अज्ञान यह पवित्र करने वाले करके नहीं जान रहा है वो अज्ञान कृत होने पर उतस्तामसत्व ठीक है अज्ञान के द्वारा हो गया नित्य कर्म पावन तो नहीं समझा फिर तामस कैसे बोलेंगे तमोगुण से है कैसा बोलना तमोगुणी कर्म कैसे बोलेंगे प्रश्न आया तो मोह से तम अरे बाबा मोह माने अज्ञान है तम है तम माने अज्ञान अज्ञान तो मोह है ये कहा हुआ है समय हो गया है फिर करेगा ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण